गुल जना दसा तू मैं वीर किथ लथा है मैं कुजोर जना दसा तू मैं वीर किथ लथा है जख्मी को क्यों लहाए गर्मी दे मैं कुजोर जना दसा तू मैं वीर किथ लथा है झल चुकी हागा थोड़ा कयां जी आय न कु तूं प्यारा न ॾेरारे मोजा न दा तूं